क्या कहा था मैंने विक्रांत ने अनुष्का और बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए कहा इस कमीने को बिल्कुल टाइम मत दो कोई रियायत नहीं करनी इसके साथ साले को टाइम दे दिया और इसने हमें नई स्टोरी बनाकर सुना दी है विक्रांत जी अब तो मैंने सब कुछ बता दी है अब क्या प्रॉब्लम है आपको क्या चाहती है आप मुझसे अशोक ने विक्रांत की तरफ देखकर खींचते हुए कहा मैं क्या चाहता हूँ तुमसे बस ये चाहता हूँ कि तुम सच बोलो विक्रांत ने जवाब दिया मैं आप कुछ सच ही बोल रही है अब ये आपके ऊपर है कि आप मेरी बातों पर यकीन करती है या नहीं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती अशोक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सब कुछ नहीं सब कुछ सच नहीं बता रहे तुम विक्रांत ने अपना सिर नाम हिलाते हुए कहा अच्छा तुम खुद ये बताओ कि लाइट हाउस से कितनी दूरी पर ले जाकर तुमने दया करके की डेड बॉडी को फेंका था और कितना टाइम तुम्हें वहां तक पहुंचने में लगा था एक एक घंटे अशोक ने बेझिझक जवाब दे दिया अच्छा एक घंटे में तुम लाइट हाउस से निकलकर डेड बॉडी को फेंकने वाले स्थान तक पहुंचे थे इसके बाद तुम वहां से लौटकर लाइट हाउस भी आए रहे होंगे आने जाने में दो घंटे और फिर इसके बाद तुम्हें अभी लाइट हाउस से लौटकर वर्कला के मेन बीच पर जाना था लाइट हाउस से मेन बीच तक आने में भी एक से डेढ़ घंटे लग जाते हैं चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम लाइट हाउस में वर्कला बीच तक एक घंटे में पहुंच गए थे तो अब तक टोटल हो गए तीन घंटे और अभी भी तुम्हारे बोट में क्रू की एक बोट रस्सी से बंधी हुई थी जिसको तुम्हें ठिकाने लगाना था अब तुम ये बताओ तुम्हारे पास तब तक टाइम और बोट में इतना फ्यूल बचा था कि तुम ये सब भाग दौड़ कर लो हाँ बिल्कुल बची थी अशोक ने फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दिया अबे है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा भले ही मैं मैथ में कभी पास नहीं हुआ लेकिन इतना तो मैं भी कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि तेरे पास टाइम नहीं बचा था उस रात को तूने आधी रात के बाद उन लोगों का मर्डर करना शुरू किया और तूने बड़े आराम से एक एक का खून किया था तूने सात लोगों का मर्डर किया उनकी बॉडी को ठिकाने लगाया और फिर उनके बाद भी तेरे पास टाइम बचा हुआ था विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे अच्छे से याद है कि तूने बताया था कि तुझे मर्डर के बारे में सुबह सात बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी और तू तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच गया था इसका मतलब यह है कि सुबह सात बजे तक तूने सारा काम खत्म कर लिया था और त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन पहुंचकर ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी हाँ मैं बोल रहा हूँ ना सच बता दे तेरे लिए अच्छा रहेगा विक्रांत ने फिर तुरंत ही खुद बोलते हुए कहा तुम या तो डेड बॉडी फेंकने के लिए नहीं गए थे या फिर तुमने क्रू की बोट को ठिकाने नहीं लगाया था इसमें से एक काम या दोनों काम तुम्हारी माँ बासु लहरी ने किया था वो तुम्हारे साथ क्राइम में इन्वॉल्व थी और वो पूरे टाइम तुम्हारे साथ थी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले नहीं मेरी माँ का ऐसा कोई मतलब नहीं है वो मेरा साथ थी ही नहीं मैं सब अकेले किया अशोक ने एक सिरे से अपनी माँ के इन्वॉल्वमेंट की बात को नकार दिया हालांकि विक्रांत अभी भी अपनी बात पर टिका रहा फालतू बात मत करो उसने खुद सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है अब तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होने वाला है तू भूल गया है क्या प्रसाद के कैमरे में एक लंबे बाल वाले लेडी की क्लिप रिकॉर्ड हुई है ये रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास है और उसमें जो लंबे बाल वाली लेडी दिख रही है वो कोई और नहीं बल्कि बासु लहरी ही है नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है आपको गलत लग रही है अशोकन ने जवाब दिया विक्रांत ने गुस्से में आकर डॉक्यूमेंट की एक फाइल को अशोकन के चेहरे पर फेंक दिया और फिर बोल पड़ा साले तो चूतिया है लेकिन मैं नहीं हूँ मैंने तेरे घर के आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे थे उन सब की फुटेज चेक कर लिया है और उसमें साफ दिख रहा है कि जिस रात को ये इंसिडेंट हुआ था उससे पहले दोपहर में तुम और तुम्हारी माँ एक साथ घर से निकले थे इसके बाद मर्डर की अगली सुबह नौ बजे तुम्हारी माँ अकेले ही घर पहुँची थी तो इसका क्या मतलब है इससे क्या साबित होती है अशोक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हो सकती है कि मेरा मदर अपने किसी फ्रेंड के घर गया रहा होगा भले ही हम दोनों साथ में निकले थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों उस रात साथ ही था तो फिर तुमने ये क्यों कहा था कि इंसिडेंट वाली रात तुम अपनी माँ के साथ घर पर थे और सो रहे थे विक्रांत ने चिल्लाते हुए पूछा अशोकन बिल्कुल सन्न रह गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था ठीक है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अशोकन दरअसल क्या है जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें खुद की स्थिति समझ में नहीं आती है तुम भले ही अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाकर चल रहे थे लेकिन फिर भी तुम्हें अपना सबसे बड़ा लूप होल समझ में नहीं आया लूप होल अशोकन को समझ में ही नहीं आया कि विक्रांत क्या कहने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा सबसे बड़ा लूप होल ये था कि तुमने सब कुछ बहुत जल्दबाजी में प्लान किया था तुम खुद बताओ कोई भी प्लान जो सीधे आधे घंटे में बनाया जाए क्या उसे बिना किसी गलती के अंजाम दिया जा सकता है बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो तुम खुद सोचो दरअसल तुम इतनी जल्दबाजी में थे कि तुमने खुद इसके बारे में डिटेल में नहीं सोचा विक्रांत ने आगे कहा दूसरी बात यह है कि तुम्हारी किस्मत भी थोड़ी खराब थी तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि ये केस सेंट्रल सीआईडी के हाथ में चला जाएगा इससे भी खराब किस्मत ये थी कि ये केस मुझे दे दिया गया और जब मैंने इस केस को पुराने लाइट हाउस वाले केस से कनेक्ट करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी दिक्कत और बढ़ती चली गई देखो शोकन अगर मैंने इस केस को ओल्ड लाइट हाउस के केस से कनेक्ट नहीं किया होता तो फिर शायद तुम कभी पकड़ में नहीं आते और ना ही तुम्हारी माँ के ऊपर कभी शक जाता लेकिन जैसे ही हमने केस को old lighthouse murder case से कनेक्ट किया तब से तुम्हारी हार होनी शुरू हो गई सिगरेट के टुकड़े तुम्हारे फुटप्रिंट्स सब मैच होना शुरू हो गया विक्रांत की बातें सुनने के बाद अशोक ने अपना सिर नीचे कर लिया विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तुमको बता रहा हूँ ना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये केस दिया गया और मेरा रिकॉर्ड शायद तुम्हें पता नहीं है आज तक मुझे जितनी भी केस मिला है उन सबको मैंने क्लोज किया है तुमने उन्नीस के किडनेपिंग केस के बारे में और हेडलेस फीमेल मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा वो सब केस मैंने ही सॉल्व किया था तो ये समझ लो कि तुम्हारा ये केस सॉल्व करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है इंटरोगेशन रूम में अजीब सा माहौल बन चुका था विक्रांत के मुंह से खुद की ही तारीफ सुनकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले बिल्कुल दंग रह गए आज तक उनका सामना किसी भी ऐसे ऑफिसर से नहीं हुआ था जो कि खुद के मुंह से खुद की ही इतनी तारीफ किए जा रहा था यह ऑफिसर काम में जितना तेज तरार था उतना ही एरोगेंट भी था ठीक है मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा माँ भी मेरा साथ लाइट हाउस था अशोक ने थोड़े नरम लहजे में जवाब दिया दयाकर को मारने के बाद मेरा माँ भी बहुत परेशान हो गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है इसीलिए जब मैं माँ को आगे प्लान बताया तो वो बहुत नाराज हो गया और मेरे को रोकना चाहता था लेकिन मेरे मेरे को रोक नहीं पाया अंत में उसको मेरा मदद करना पड़ा सो वो भी उधर से क्रू वाला स्पीड बोर्ड लेकर गया था यह सुनकर विक्रांत ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए एक हल्की सांस छोड़ी अशोकन मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूँ एक बेटा होने के नाते तुम अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं यहाँ हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं विक्रांत जी अब आप क्या जानना चाहता है मैं आपको बस इतना कह रहा है कि मेरा मदर ओल्ड एज है भले ही वो मेरा साथ लाइट हाउस पर था लेकिन उधर उसने कुछ नहीं किया सब मैं अकेला ही किया था वो बस लास्ट में क्रू का बोर्ड लेकर गया था अशोकन ने जो हिलाते हुए कहा विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा तो ये बताओ वहां तुमने गड्ढा कैसे खोदा था अकेले और तुम अकेले ही नौशाद अली को खींच कर लाइट हाउस तक ले गए थे फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया कि जब रविचंद्रन को रस्सी से लटका कर मारा गया था तब उसकी तुरंत जान चली गई थी उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया था क्या बातें कर रहे हो अशोकन प्लीज अब बहाने बनाना बंद करो हम लोग सेंट्रल सीआईडी से हैं को और मुजरिम को देखते ही उसकी सारी नस पकड़ लेते हैं मासू लहरी ना सिर्फ तुम्हारे साथ लाइट हाउस पर थी बल्कि उसने हर मर्डर में तुम्हारा साथ भी दिया है तुम अब इस बात को बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते समझे तुम अशोकन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया बल्कि वो बड़ी गंभीरता से कुछ सोचने लग गया कुछ देर तक उसे यूं शांत अवस्था में देखकर विक्रांत ने कहा लग रहा है कि तुम फिर से मैथ लगाने लग गए रुको मैं बताता हूँ कुल सात लोगों का मर्डर हुआ है देखो अब जो भी मेन कातिल होगा उसे तो सीधे फांसी दी जाएगी तो तुम तो फांसी चढ़ने के लिए तैयार रहो रही बात तुम्हारी माँ की तो चूंकि उसने तुम्हारी मदद की है सो उससे भी कम से कम दस साल की जेल दी जाएगी हो सकता है कि बीस साल के लिए भी जेल भेजा जा सकता है विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा बासु लहरी की उम्र अभी चौसठ साल है अगर उसे बीस साल की सजा होती है तो फिर समझो कि जेल में ही उसकी मौत हो जाएगी अशोकन तुम खुद एक पुलिस वाले हो तुम्हें समझना चाहिए कि हर कोई अपने जुर्म के लिए खुद जिम्मेदार होता है ये सब बोलते बोलते विक्रांत खुद काफी दुखी हो गया था दयाकर को म्यूकार्डेट्स की बीमारी थी म्यूकार्डेट्स हार्ट डिजीज से अलग होता है ऐसे में उसके लिए अगर कोई ये कहे कि उसकी अचानक से डेथ हो गई है तो फिर इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है आप विक्रांत की बात सुनकर अशोकन कांप उठा विक्रांत ने फिर कहा हमारे एक्सपर्ट्स ने ये कैलकुलेट किया था कि लाइट हाउस के पास में नौशाद को जिस पत्थर से मारा गया था उस पत्थर को कम से कम एक दशमलव आठ मीटर की ऊंचाई से गिराया गया रहा होगा अब जिसने भी उसे मारा रहा होगा उसने पत्थर को अपने सिर के ऊपर तक पहले उठाया रहा होगा अब अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग तुम पत्थर को एक दशमलव नौ मीटर तक उठा सकते थे दूसरी बात पत्थर को जिस तरीके से गिराया गया उसमें लेफ्ट हैंड का ज्यादा प्रयोग किया गया था इसका मतलब नौशाद को मारने वाला लेफ्ट हैंडर था जबकि तुम तो राइट हैंडर हो ना हाँ तुम्हारी माँ बासु लहरी जरूर लेफ्ट हैंडर है इसके बाद विक्रांत ने कुछ पल ठहरने के बाद कहा अशोकन क्या तुमको अब भी लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे और अपनी माँ को बचा लोगे